तो कहीं कहे देखो भाई बात आ है मिंजारी शुद्ध हरिया अगन में अवा में अगन लगाई दियो रियाद आई जद सिरियो सिरिया दे अवा में प्रभु लीलो घास आशा हाँ ये महाराज सिरिया दे कुंभारी न्याव खिड़कने रीन फिरती फिरती कोई मिनी जो मोहन आन ब्याई गई है उन्हों गरोदनी बाद ही लिजान नालियर में ने वे माटी रा बर्तन उन नालियर में जान चेतन कर दुकान के मोह नैना नैना वे वेदरा बिछिया है ओ क्यों खुली कोनी पाड़े वा मिनी फिरे है फिरे तो वो मन में विचार करियो और एक दो दिन न्याव ने चालू मत करो हाँ, जिते और बिछिया नहीं क्यों खुल जाई देना लेने जाती तो वाकुमर तो कटी बस्ती में कीन लारू है जो वे छोटा बच्चा बिने होसा जको उन्हें जो न्यावरे में वे नालिया हा जको जो नीचो जो बाद हिलगाश बाद हिलगायो न में धुआं धोर मचियो अच्छा। धुआं धोर मचियो उन सिरिया दी देखियो रे कोई न कोई न्याव लगाए एन मोय तो बचिया अच्छा। गजब होगा गजब होगा आइन देखे तो वो तो जो जवाला चालू कोनी चेतन होई धाम धूम पे जो बादी बलने ढूक फति आई नम राम राम राम राम राम राम राम रूल लगाई दिए नु नम दौड़ी दौड़ी फिरे राम राम राम राम राम राम करे जड़े उठे हिरना कसुरो राज और जटे राम राम करने देता कोई नहीं राम राम करता जी को ने घोड़ी में घाल ने पील अब जावे पेड़ा जी महाराज पार्टी बस तो ले स्कूल में जावे धके बाज श्रिया दे राम राम राम राम कर रही है अब उर सिरियादे ने पूछियो ए गैली थारो यो गाम की गियो मारा पितर राज में रोम रोम करे तारी मौत आ गई घोणी में गाल ने पिलिस दई अच्छा। वा सिरियादे हाथ जोन पेड़ा जी महाराज ने कहे महाराज बात आ है राम राम करूं तो बच्चा है जो उबर जाई ने हिरणा कुछ हिरणा कुछ करूं तो मर जाई तो तो हिरणा कुछ हिरणा कुछ करे तो हिरणा कुछ हिरणा कुछ करे तो इन बाद दिन मैंने बढ़ जाई एन राम राम कर दवा जो उबर ए बच्चा उबर जाना तो अब सीरिया दे के भाई राम राम करने बच्चा उबर तो जाई कहा उबर जाई तो वो है जो पहला जी महाराज कह देख भाई नहीं उबरिया तो हाँ तो महाराज नहीं उबर जाए तो बोले आप कह जो कही जो मैं करने हारू हूँ पहला जी महाराज सौगन के मारा पिताजी री लाख सौगन इनमें बलना चाहिए उन्हें ठाई भाई बलता मैं कह रहा उबरे हाँ, तो और सीरिया दे कहो मारो जो सच्चानंद भगवान है उन्हें लाख पूर्ण परमात्मा उन्हें लाख सौगन इनमें उबरना आ शर्त मंजूर कर परी एन पहला जी महाराज तो स्कूल गया परान सिरिया दे पाची राम राम धुन लगाए अब पहला जी महाराज कहे हाँ, मारे आयो बिनो न्या में नहीं खोलना हाँ, तो कहना रो मतलब पहली है जो को सिरिया दे रो भगतनी ही हाँ, उन्हों पहली एक हफ्ते हुए जो न्याव खुल तो उन सिरिया दे रा बचनू हमें है जो को आठ बार नहीं है जो न्याव ठंडो हो तो अब है जो आठ पौर भी जो न्याय ठंडो भी है उन्हीं टाइम रे मैंने कहीं तो है जो बड़ा जी महाराज आवे हाँ एन कोई आन वो न्याय खोलावे हाँ न्याय खोलावे है तो पहुंच तो बर्तन कोरा रह गया है एन वे बचा है जो मौन केला सो कर रहे पहला जी महाराज कहे भाई वाह भाई थारो है जो सचानंद स्वामी एडो मैं है हाँ, जो कोई परमात्मा है तो अब पहला जी मरा जी वहाँ नॉम री चोट लागी जो स्कूल में जावे जो सगला बच्चों ने कहे भाई पार्टी माते राम गोपाल राम गोपाल ही लिखो के पार्टी पे लिखो पोंडिया रोम गोपाल दूजा नॉम से नहीं है कौन हाँ। पार्टी पार्टी में राम गोपाल राम गोपाल लिखे हां तो श्री राम गोपाल राम गोपाल करो भाई स्कूल रा संतरी हा टूलो और मुर्गो वे जा पर ने जो कहीं तो है जो हिरणा कुछ ने कहे परीत लगी पेड़ आद भगत को राम सिमरियो सरर सरर चूल्हे मुर्गे चुगली खाई हिरणा से उठियो अड़ड अड़ड कह तो हिरणा कुछ राम बता नीन चौम चीर दे चरड़ चरड़ तो में राम मुँह में राम खड़ खम में राम जब वो खम्भ फाटियो हो खरड़ खरड़ नरसिंह रूप धारण कर हिरणा कसु मारियो दिकरी चौम चीर दी प्रभु चरड़ चरड़ तुलसीदास दी तेरा बदन में जरो कार्य सरगो पद सरर अरे अरे साहब अरे ऐसो है जो भगवान उन्होंने कार्य बढ़ायो है और पेड़ा जी महाराज ने ये जो विश्वास बढ़ियो भाई है तो है जो परमात्मा जबरो है लेकिन पेड़ा जी महाराज ने उन नाम री लागी है तो और पेड़ा जी महाराज ईश्वर विश्वास देखो है पेड़ा जी महाराज है शिवरण शुरू कर है देनदास जी महाराज ने भगवान कह देना है बात तो झूठी है भाई हाँ, हाँ, तो हुनी ओड़ी मत कह हाँ, अच्छा। ए महाराज कोई कह कागज रे लेखी मैं तो कहूँ निजरों ने देखी तो भाई कहीं बात है देख एक बात बड़े तो भगवान कहीं तो देनदास जी महाराज ने कहे कहीं देव सभा भाई सुधरे चक ಗಾಯಿರೋ ಏ चल में मरणेरा देख भाई आ बात है देना मैं कहूँ जो सुन दे कहो महाराज कैरी बात है जैसे राजा अर्जुन हो जी लड़को हो अभिमन्यु अभिमन्यु हो जो माथा रा गर्भ रे मैंने वो है जो विद्या पढ़तो हाँ। विद्या पढ़तो जने आठ विद्या तो उन्हें मुख पाठ कर दी और हाँ, एक विद्या बाकी रह गई इन पति उन्हें जन्म होगो पर नवे में हाँ, तो नववार में तो नवी वार में विद्या में ने जो जन्म एगो जो वा विद्या उन्हें मुख पाठ ही कोई नहीं आठ विद्या जो गर्भ में उन्हें जो आप आपरी है देखो ठीक को अभी मन विद्या अधूरी और सुदर चक्र में जाए मुझे भगवान कृष्ण कहरू और पांडु लड़िया जो तो वो चक्र चलायो उन्हें मैंने जो रत्रा रतरा रो રત્નો પેડો ઓંગળીને માથે શસ્ત્ર હમણાં વાંચે તો કોંડમાં કેરમાં પહેલી સંપલક દે દિયો મહારાજ आप मां भारत में आओ एंड लड़ो ना हाँ सक्सेस नहीं बोला और सक्सेस बोला तो थे आप शस्त्र हमारे के नहीं हम लड़ नहीं सको सको के ये भगवान है देखो अठार वो दिन आयो अच्छा। उन दिन भगवान कर्तन दे के भाई अब वो तो अंतिम दिन है अठारह दिन रो ऑर्डर हो अठारह दिन में जो पोंडू है खत्म हो जड़े कई करियो आप है जो वो ओंगली में गाल पर हुन रतिरो पेड़ो हुजे की यूं फेरियो फेरियो जो सगड़ा आहे जेको ख़तमु कर जॾहिं अभिमन विद्या अधूरी सीखियो सुधर चक्र में जाय मुओ राणी सुभद्रा पिता अर्जुन जी रोई रोई ने कीतो रुदन वो तो है जो अभिमन्युम भगवान कृष्ण नो भोणे जो एन बहनी भगवान री हगी कृष्ण री कौन अभिमन्यु अभिमन्यु री मां सुभद्रा पर अर्जुन जी आ बहनो जी पण वो रो रोन घणो ही है तो रुदन करियो पण वो पाछो सर्दी थियो कोई नहीं वाह भाई वाह अरे जैन जी वेड़ा वेड़ा है जो रजा अवतारी पुरुष आ हाँ, हाँ, और भक्तिवान आ हाँ, विद्यावान अवे सर्दी इतनी है तो बच्चों कह कहनो सर्दी इन मारे तो सब नहीं जानो है अभी मन विद्या अधूरी सीखी और सुधर चक्र में जाय मुओ रानी सुभद्रा पिता अर्जुन जी रोई रोई ने कितो रुदन धैनदास मत कर हरसे ओमनो इन मारिक तो संसार गियो ए जलम मरण रा आदू रस्ता ये देना इनो पार तो किणी नहीं भाई मान जा हाँ है ना अरे तो बात है तो तू मती तो बहनदास जी महाराज कही तो भगवान ने पाछो कहवे इन कई बाता हे महाराज अभी मनियम तो उठ लड़ाई में गियो हाँ और उन्हें गर्भ घो और हाँ। वो लड़ियो जने मरियो मारो और लड़को कियो जो मैं कहूं तो सुनो महाराज तो कहो भाई देख भाई तो कही तो भगवान ने दहनदास जी महाराज कहवे इन कई बाता सब चमन चोरी ने चालिया धना देख भाई आ बात है दिन हो वो हो जो कोई सर्दीत नहीं भी हो तो ओकर सर्दीत हुए तो भगवान ने हमें पाछो दैनदास जी महाराज के महाराज अभिमन ने तो अभिमान हो यार हाँ मारे इन बच्चा ने अभिमान है कोई नहीं सब और चमन दो भग था भगवान री माला फेरता और चोरी करने वास्ते विनर कोई संत दवारे किया पर आदर देखियो भाई वो अपे जो अटे ધૂણી પાણી ગાડીઓડી અને પરમાત્માની માળા ફેરો અને સંત આઈ ગયા તો ભૂખા રહે જાય પણ ખંડ તો જાય ઓર આપણો નેમ ખંડ તો હોય જણે કઈ કર્યો હવે ગરુ ચેલો ચોરી કરીને વાસ્તે ગયા જો એક શહેર રે મેં કોઈ માજન રે ગરુ ચાર પાંચ જણા જી મેં તો ભોજન નિકાલ્યો હે આટો પેટીઓ નિકાલ બારે નીકળને ઢૂકો ઉન ટાઈમ હે જો ગરુ લારો હું ગરો ધણી જાગો તો પગ પકડ ઉપરો બઢિયા ઉપરો બઢિયા પગ પકડ્યા અને ઉપર હાથ પકડી જ ગો હા अब वो अध पीछे लटके हाँ सामान तो बारे दे दियो और वो उन्हें बाप हो जी ने कहे यूं करो मारो माँ तो बाढ़ दो हाँ नहीं तो है दुनिया ओल की तो कहे देखो ईश्वरी माला फेरता भजन करता है और साधु आज चोरियो करनी ठीक है ठीक है जने माँ तो काट लियो माँ तो काट लियो जने कहे एक न तो ही किया एर नौ कोई है जो को देख किया नहीं कोई धर और की कोई बात हमारा जान के वो मोहरे तो राते चोर बजियो है हाँ, जिक्र मत है कोई नहीं नहीं। तो वे हकम मुसाई फाद कहो अरे भाई मा तो नहीं है दिन एड़ो केड़ो चोर है हालो देखो देखे हाँ, चोर तो देखे मरियोड़ो परियो तो के भाई ओपड़ो तो हक है देखो हाँ, बजा करनो ही दे बिदान हुली रे माते चाडियो तो सब चिमन चोरी ने चालिया चिमन सुत पकड़ी गियो कटियो सी सुली माते चढ़ियो तो हुली परी हरजीत है ए दैनदास है विश्वास भरोसो भारी अलक उनराई तो पूरे ला पतरा की पेड़ हाथ ने तारियो तो वही मालिक जो बड़े है जो भगवान कह देना देख बिन देखियो बिनो बात बिल्कुल झूठी है पर कर्म गति किणी मिटे कोई नहीं तो कई कहवे दे करण Pelé. देना मोन जा भाई हाँ किकर मोनु महाराज हरिचंद दिशी का सतवादी राजा हाँ तो कह कर्म गतियां है भाई किड़ो टालियोड़ी कोनी राजा हरिचंद्र रोनी तारा दे नीत कर नीर भरे अरे कर्म गति तारी और कोनी लक घोड़ा लक पालकी जिन पर चवन डोड़े वाने लाखों तो घोड़ा लाखों ही पालकियों ही और माथे माथे चवन ढूंढतो लक घोड़ा लक पालकी जिन पर चवन ढूले राजा हरिचंद्र रोनी तारा दे नीत गर नीर भरे रे देना कर्म गति भाई तारी और नहीं महाराज मैं नहीं मानू तो तू क्यों नहीं माने देख भाई बात एक भड़के उठने को महाराज कैसी बात है भाई मात पिता री खोंदे कावड़ लेन सरवर बन बन फिरे राधा दशरथ जी बोन सौंदियो वो मोमरे हाथ मरे है अरे कर्मोरी गतियों भाई टालियोरी कोनी रड़े कोई कर्म ने में टोटो नफो हार और जस और अब अबजस ए कोई बातों मिट सके कहीं हाँ, तो के नहीं महाराज ए तो मिटने री तो नहीं है पर मैं कोई कागज रे लेखी के मैं निद्रा रे देखी तो बड़े तो भगवान कही के देख भाई देना बात आए हाँ, को महाराज किसी बात है इन खुरी दो अंगली धरती लाख पचास अच्छा। निकिया बिकिया नी ठले जो पासा जो बा परत्री दी है जको पासो मोंडियो एर घणी लंबी छोड़ी धरती पड़ी ही पण मिरगा रो पाव उन पासे रे में पड़सियो कर्मारी गति हां कर्मारी गति वो है हाँ। तो कह रनी देवनी दोई बाड़ियों मिरगो अजब चढ़े कई धरती रो टोटो पड़ियो पासा में पाव पड़े अरे भाई कर्मारी गतियों टालियोड़ी कोनी चले इधर पड़ी उजार में इधर ऐसो जानवर है जो हवा आता थी उन दिन भर में वह एक हवा आती गोमत्रो करे है हवा आती राउंड काटे हाँ। एंड हव ना हवा आती जो हिरके इतो मोटो वो जानवर हाँ तो वह कहीं करे बाको फाड़ी ओड़ी बैठी रहे जो कटी हुई उन्हें है जो साईं परमात्मा है जो भेजे चुको जो भेजे जो हवा मनो तो उन्होंने आ रहे एंड हवा आत्रो उन्हें है जो पेंडो है पेंडो है तो ऐसो मोटो जानवर है जिक्र ही कहे हवा मनो आ रही भगवान पूर्ति कर दे कर दिया करेगा इदगिर परी उजार में वाई चुगो करे साई कह सामरा होनी सो यो सरे अरे भाई कर्म गति टालियो नी कोनी लड़े है तू मान जा भाई होनी वैजू है बिना एनी नो दाग संस्कार कर दे तू मैं दाग संस्कार नहीं करूं मरा सब चिमन चोरी ने चालिया मातो कटियोड़ो सर्दी तियो एर हाँ, थे इजगिरो वाली बातों को है बात ए भूलो ना करो मती मुंह मानू कोनी हाँ, तो भाई क्यों नहीं माने के देखो मैं कहूं जो सुन दो हाँ हाँ सब चिमनी चोरी ने चालियो चिमनी सुत पकड़ी गियो कटियो सी सुनी माते चढ़ियो होली परी हरजीत कियो हाँ है विश्वास भरोसो भारी अल कुंदराई पूरे ला पतरा की पहलाद भगतरी तो वही मालिक तो धैनदास जी मना ने कही तो भगवान कहवे कई बात बोलिए विष्णु भगवान की जय हो 别买。 हमारे भले अमरे फिर तो कहीं कहो ये देना सुन ले भाई मैं कहूँ देखो हाँ, अच्छा। अरे को नहीं महाराज हाँ, भले दो चार को भले को हाँ। कई बातों कहूँ देख भाई सुन ले के भ्यासरी का बड़वत जोधा ऐसा कोई तो हुआ नहीं होने का नहीं है। नहीं व्यासरी का बनवत और जुधिष्ठर जिसी का सतवा दिरे जाया पहुंच पुत्र कूटा रहा खपगा ने अमर पठो लिखा ने कुण देख भाई ब्याह अच्छा। जैसा बलवंत जोधा इन पृथ्वी माते नी तो कोई सतवादी पूत जन्मे और हाँ, नी कोई है जको जन्मिया हाँ, तो कह बिया में ही तो बल क्यों हो हाँ, और ऐसा वो जो दो है जो क्यों हो तो कह भाई पहला जन्म में शंकर भगवान री तपस्या की हुई कुंती और कुंती ने भगवान शंकर है जो मंत्र दियो एक पवन रो वो पवन मंत्र साधन कियो जन उन्हें बियो जन्मियो इन कारण उन्हें पवन री शक्ति उन शक्तियों है जो वो बड़ो भारी है जो को जो दो हो। बड़ी शक्ति नहीं तो आज कोई है नहीं कोई होने की है व्यासरी का बणवत जोधार जुधिष्ठर जिसी का सतवादी रे जाया पौत पौत पुत्र कुंतारा खपगा ने अमर पटो लिखा ने कौन लाया मोहन जा कहो अमर पटो किन कनी है कोनी अच्छा। तू इन बच्चा रो है दाग संस्कार करते है तो आदू रास्ता है ए तो भाई आदू मार गए तो कह नहीं महाराज मैं इन बच्चा ने जड़ाऊं कोई नहीं नहीं तो क्यों नहीं जड़ाओ भाई देखो मैं कहूं जो सुनो तो बड़े हाँ। कई बड़े कई तो है हाँ। दयनदास जी महाराज पाछो भगवान ने कहे इन कई देव सभा સુણ લો આ વાત હે હેંગ દીધો ભૂકો મરતો પાડ દી આ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೋ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೋ ಆ ನೂನ್ ಬಡದಾರಿ ನೀಚೆ બેઠો બેઠો હે દિનો એન્ડ અટીનો શબ્દ ઇન્દ્રો હિકરો હો હા સર જકો આ નૂન બડદારી માથે બેઠો હે પપૈયા બડ ઝોંકરો જંકરો ઝોંકરો નો મતલબ કોઈ કે જો ઓંદડો નહીં ઓંદડો કોની હાવ ઝોંકરો જો પડતો પપૈયા બડ ઝોંકરો ઉપર ભવે શિશાન અરે આય એડી સિર સોંદિયો કેસે બચતી પ્રાણ પપૈયો હે જકો પરમાત્મા ને યાદ કરને ડુકો હે અમે નીચે જાઉં તો પાડ દી બેઠો ઉપર જાઉં તો એ તો સિકરો ભવે ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा तीन काल में किकर बचेला तो बड़े वो है जो भगवान ने कई तारोद तो करे पपैयो और कई बातों बड़े जावे हां वो यीशु ने डोर लगाई सा अरे भाई कैसे भाई कैसे जाए Evangelho. पार पी काड़ो पाराभी जानू दे अरे मैं कैसे जानू दे बोल श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो देखो सा ऐसी सच्चाई ऐसा नेम ऐसी भक्ति हाँ ऐसी माला हाँ ऐसो नाम अहिड़ी हाँ टेक रे माथे वे जड़े दाता ने जो बेड़ो पार होवे है इतनी लिखनी राखे जन वे भाई भाई भाई पपैया बड़ झोंकरो और ऊपर भवे सिसान आएड़ी सिर सोंदियो कचे बसी प्राण हां ए भगवान हमें किक राखेला તો હવે વો પપૈયો એલો મારે હરી ડાળ પર બેઠો પપૈયો જપરેયો હે રઘુજીરો અરે મેં કઈ જાણું કિસ વિદે રાખેલો રો અરે નીચે જાઉં તો પારદી બેઠો અરે ઉપર ભવે શિશાન અરે મેં કેસે જાણું કિસ વિદ રાખેલા જડે जैसे तुलसी कीर्त रामायण में लिखियो है तुलसीदास जी महाराज जिन पर कृपा रोम की होई और जिन पर कृपा करे सब सोही जिन्हें माते रोम जी की कृपा है जिन्होंने माते हगलाई कृपा है तो कहें अरे અબે જો ભળે કયો પારદી પાપીને કાળો ખાયો જડે હોય બળદારી સાકરે માં પારદી તો ઊંચો જોવ તો અરે નીચે હું સરપ નીકળ્યો જો ને ચીટડી આંગળી રે ખાયો ને કેવું ના હાથમાં એકદમ જજકો પડ્યો જજકો પડ્યો જજકો પડતો જે જ લાગી જકો વો ધકે પપૈયો તો બચગો ને વો આય ઉપર સીકરો પહોંચો જો કે ખતમ બોણ લાગ્યો બોણ લાગો જો ખતમ હોય ગયો तो कह जा को राके सैया अरे मार सके नहीं कोई अरे बाल बंको नहीं करे चाहे जगदिन वेरी हो अरे दिन मात राम जी की कृपा वे हाँ, तो के बाली बोको नहीं कर सके नहीं कर सके जाको राके साइया मार सके नहीं कोई बालन बंखो नहीं करे चाहे जगदिन बैरी हो चाहे भले अगली दुनिया बैरी वे जाओ तो भले ही वे जाओ हाँ। पर राम जी की कृपा वे जी करो आज बाली खोंडो परमात्मा रोकणो नहीं चाहिए हां सा तो फिर तो તો કે ભગવાન ધેનદાજી મને આને હાથ જોડ કે ધેનદાજી ના અઠા ની ભાઈ ચાર દી આ ઉબા ટંટા કરે તો ભગવાન ખુદો ખુદી वे तो देखियो यही कोई मारे तेरा ब्राह्मणी हाँ, वे महाराज ने कहे महाराज मैं नहीं मानू तो के देखो महाराज पपे यार प्राण बचायो वही ये लड़के ने सर्दी है भाई के जो पपे यार प्राण बचायो वही ये लड़के ने सर्दी कर तो भगवान पाचो धैना ने कहे धैना देख मैं कहूँ सुन भाई हाँ, ভাই না

जय हो तो कहीं कैसा दिनो देख भाई वे माता जाने दोनों दलती एन लवगिरे ने लिया पटे चौद सुरजा मेलरा दीपक दस माता वो रोवणी ये देना दस माता वो रोवणी है जो कपिंदा खातो जातो थारी आसीत कहीं है तो कहे बे माता जरे दोनों धरती नवगिरे ने लिया पटे चौंद सूर्य मेलो रा दीपक दस माता नो रोवणी कटे है ये देना वही दातरी और थारी नी जुआ कहिए भाई रोवणी री का जाता हरिया और तू मान जाइए बच्चा ने जड़ाए हाँ पड़पत तो छोड़ दे तो कह महाराज बच्चा ने तो मैं जड़ा दे पर एक बात कहूँ देखो सुनो कह भाई बातों पहुंच हाथ के पर मुँह जो मानू कोई नहीं तो बड़े कहीं देनदास जी महाराज भगवान ने कहे कई देव सभा